इसीलिए आपको बुला भेजा है कि इन तीन दिनों में कुछ बात आपसे करूं कि महल का दिया जल सके महल में फूल आ सके सुगंध आ सके और शायद परमात्मा के राज्य के आप भी अधिकारी हो सके कौन पता है किसे पता है कि आपको भी इसलिए नहीं भेजा गया हो किसको पता है कि जीवन एक परीक्षा न हो किसको पता है कि जीवन की इस परीक्षा में कैसे और कौन उत्तीर्ण होगा लेकिन एक बात सुनिश्चित है जीवन के अंत तक जो प्रकाश जला लेता है अपने जीवन के महल में जो सुगंध से भर लेता है स्वयं को जो संगीत बन जाता है अगर कहीं भी कोई परमात्मा है अगर कहीं भी कोई आनंद है अगर कहीं भी कोई संपदा है तो निश्चित ही वो उसका अधिकारी हो जाता है इस कहानी से इसलिए शुरू करना चाहता हूं ताकि आपका जीवन ग्रह खाली न रह जाए कूड़े करकट से न भर जाए प्रकाश से भर सके संगीत से भर सके सुगंध से भर सके ये कैसे हो सकता है आज की रात तो कुछ थोड़े से प्राथमिक सूत्रों पर आपसे मैं बात करूंगा जिनके आधार पर तीन दिन हम जीने की कोशिश करेंगे ये महल कैसे प्रकाश से भरेगा वो तो आने वाले तीन दिनों में उसकी दिशा में कुछ सूत्र कुछ वैज्ञानिक चरण कुछ सीढ़िया आपको कहूंगा लेकिन उसके पहले आज तो कुछ प्राथमिक सूत्र ही समझ लेने जरूरी हैं कि ये तीन दिन के शिविर में हम कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे और इतना स्पष्ट समझ लें कि एक आदमी तीन क्षणों के लिए भी ठीक से जीना सीख जाए तो सारा जीवन ठीक हो सकता है क्योंकि जो व्यक्ति एक क्षण को भी जीने की ठीक दिशा में कदम उठा ले जो एक क्षण को भी जीवन के आनंद से संबंधित हो जाए फिर इस जीवन में दोबारा उस आनंद से अलग हो जाना असंभव एक बार भी जो आंख खोल ले और देख ले फिर इस जीवन में आंख का बंद हो जाना और अंधेरे में भटक जाना संभव नहीं तीन दिन बहुत है और तीन दिन आप निकाल के यहाँ आ गए हैं वो भी स्वागत के योग्य है और धन्यवाद के योग भी क्योंकि आज की दुनिया में कोई तीन दिन भी जीवन को प्रकाश से भरने के लिए निकालने को राजी नहीं एक आदमी एक बहुत बड़ा सौदागर जो नौका लेकर दूर दूर के देशों में करोड़ों रुपए कमाने गया था उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम नौका में घूमते हो पुराने जमाने की नौका तूफान होते हैं खतरे होते हैं नावें डूब जाती हैं तुम कम से कम तैरना तो सीख लो उस सौदागर ने कहा तैरना सीखने के लिए मेरे पास समय कहा लोगों ने कहा ज्यादा समय की जरूरत नहीं गांव में एक कुशल तैराक है वो कहता है तीन दिन में ही हम तैरना सिखा देंगे लेकिन उसने कहा वो ठीक कहता है लेकिन तीन दिन मेरे पास कहा तीन दिन में तो हजारों का कारोबार कर लेता हूं तीन दिन में तो लाखों यहां से वहां हो जाते कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर सीख लूंगा फिर भी लोगों ने कहा कि बड़ा खतरनाक है तुम्हारा नाव पर निरंतर जीवन है किसी भी दिन खतरा हो और तुम तैरना ना जानो तो उसने कहा और कोई सस्ती तरकीब हो तो बता दें इतना समय तो मेरे पास नहीं तो लोगों ने कहा एक कम से कम दो पीपे अपने पास रख लो कभी जरूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़ के तुम तैर तो सकोगे उसने दो पीपे खाली मुंह बंद करवा के अपने पास रख लिए उनको हमेशा अपने नाव के जहां सोता वहीं रखता है और किसी को पता भी न था कि एक दिन वो घड़ी आ गई तूफान उठा और नाव डूबने लगी तो वो चिल्लाया कि मेरे पीपे कहा है तो उसके नाविकों ने समझा कि ठीक है वो अपने पीपे खोज के आ जाएगा वो उसके बिस्तर के नीचे ही रखे रहते हैं तो बाकी नाविक तो कूद गए वे तैरना जानते थे वो अपने पीपों के पास गया लेकिन दो खाली पीपे भी वहां थे जो उसने रख छोड़े थे तैरने के लिए और दो स्वर्ण असरफियों से भरे पीपे भी थे जिन्हें वो लेके आ रहा था उसका मन डबाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेके कूदे सोने से भरे हुए या खाली फिर अखीर उसने देखा कि नाव तो डूबने लगी है खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा उसने अपने सोने से भरे पीपे लिए और कूद गया जो उसका हुआ होगा वो आप समझ ही सकते हैं वो तीन दिन तैरने के लिए नहीं निकाल सका था आप तीन दिन तैरने के लिए निकाल सके हैं इससे स्वागत आपका करता हूं और उसे मौका भी मिल गया था कि वो खाली पीपे लेकर कून जाता लेकिन वो भरे पीपे लिए कून गया क्योंकि जिनकी जीवन भर भरे होने की आदत होती है एक क्षण में खाली होने को राजी नहीं हो सकते इधर तीन दिनों में खाली पीपे कैसे उपलब्ध किए जा सके वही मुझे आपसे कहना और नदी में तैरना हो तो खाली पीपा सहयोगी होता है और अगर परमात्मा के सागर में और जीवन के सागर में तैरना हो तो स्वयं का खाली पीपा बन जाना जरूरी होता है वहां जो व्यक्ति जितना खाली और शून्य हो जाता है वो उतना ही प्रभु के सागर में तैरने में समर्थ हो जाता है लेकिन हम सब अपने को भरने की कोशिश में लगे रहते हैं कोई सोने से भर लेता है कोई मिट्टी से कोई कंकड़ों से भर लेता है कोई हीरे जवारातों से लेकिन पीपा सोने से भरा है कि मिट्टी से कि कंकड़ों से कि हीरे जवाहरातों से, से कोई फर्क नहीं पड़ता भरा पीपा डुबाता है चाहे किसी चीज से भरा हो उस दिन सोने से भरे पीपो ने उसे बचाया नहीं कितना उसने मन में नहीं कहा होगा डूबते क्षणों में कि अरे पीपे मैंने तुझे सोने से भरा है और तू मुझे बचाता नहीं मैंने कोई मिट्टी तो भरी नहीं है जो मैं डूब जाऊं मैंने सोने से भरा है तुझे फिर भी तू डुबाता है लेकिन पीपे ने शायद ही सुना हो क्योंकि भरे पीपे सिर्फ डूबना जानते हैं तैरना नहीं जानते फिर वे किस से भरे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम क्या भर लिए हैं अपने भीतर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने सिर्फ डूबने की तैयारी की है तैरने की हमारी कोई तैयारी नहीं धर्म तैरने की कला है और हम सब जो कुछ सीखे हैं वो सब डूबने की तैयारी है कैसे हम अपने को खाली करेंगे कैसे हम तैरने में समर्थ हो जाएंगे कैसे हम जीवन की नाव को अज्ञात के सागर में उस तट तक पहुंचा सकते हैं जिस तट का नाम परमात्मा है जिस तट का नाम प्रभु है जिसका नाम सत्य है कैसे प्राथमिक सूत्र स्मरण कर लेने जरूरी है पहली बात मुझसे लोग पूछते हैं कि साधना शिविर यानी क्या कल ही कोई मुझसे रास्ते में पूछ रहा था कि साधना शिविर क्या है और सत्संग क्या है तो मैंने उन्हें कहा सत्संग उनके लिए है जो श्रावक हैं जो सुनने को उत्सुक हैं और साधना शिविर उनके लिए है जो साधक हैं जो सिर्फ सुनने को नहीं कुछ करने को आतुर है जो लोग सिर्फ सुनने आ गए हों वो गलत जगह आ गए सुनने के लिए तो मैं खुद ही आपके नगरों में आ जाता हूं कि आप सुन सके लेकिन कुछ करना हो इसलिए यहाँ इस दूरी पर आपको बुला भेजा है इस अकेलेपन में ताकि कुछ किया जा सके इन तीन दिनों में सुनने की बहुत चिंता मत करना इन तीन दिनों में कुछ करने का ख्याल स्पष्ट होना चाहिए हम चाहे कितनी ही अच्छी बातें सुन लें चाहे कितनी ही अच्छी बातें जान लें उनके जानने और सुन लेने से जीवन में कोई क्रांति और कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है बल्कि इस लिहाज से व्यर्थ की बातें जानना उपयोगी भी है क्योंकि व्यर्थ की बात जानकर कोई भी ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ मिल गया है लेकिन सार्थक बातें जान के एक भ्रम पैदा होता है कि शायद हमें कुछ उपलब्ध हो गया हमें कुछ मिल गया अकेले सुनने से कुछ भी मिलने को नहीं है ये साधक को सबसे प्रथम जान लेना चाहिए उसे कुछ करना पड़ेगा उसे कुछ होना पड़ेगा उसे अपनी जीवन विधि में कोई परिवर्तन अपने जीने के ढंग में कोई भेद अपने होने की व्यवस्था में कोई क्रांति उसे करनी पड़ेगी तो कुछ हो सकता है अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है मात्र सुनने वाले होने से कुछ भी अर्थ नहीं है सुनना भी एक मनोरंजन है कोई संगीत सुन के आनंद अनुभव करता है कोई जीवन के सत्य की बातें सुन के आनंद अनुभव करता है लेकिन वो मनोरंजन से ज्यादा नहीं थोड़ी देर के लिए भुलावा है हमें कुछ करना पड़े तो हमारा जीवन बदल सकता है मैं जो कहूंगा इन तीन दिनों में वो इसी दृष्टि से कि वह आपके भीतर कोई क्रियात्मक रूपांतरण बने कोई एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन बने आपके भीतर कुछ बदल ले आए लेकिन वो बदल मैं नहीं ला सकता हूँ वो बदल आपका सहयोग मिले तो निश्चित आ सकती पहली बात साधना शिविर एक क्रियात्मक जीवन क्रांति के लिए सक्रिय रूप से रचनात्मक रूप से सृजनात्मक रूप से स्वयं को बदलने के लिए एक अवसर है मात्र सुनने के लिए समझने के लिए कुछ तर्क कुछ विचार कुछ चिंतन के लिए नहीं बल्कि कुछ स्वयं के जीवन की स्थिति को नया रूप नया जीवन नई दिशा देने के लिए इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में ले लेंगे तो मैं जो कहूंगा उस पर आपस में कोई विचार नहीं करना है मैं जो कहूंगा उस पर बहुत चिंतन नहीं करना है उस पर बहुत मनन नहीं करना है मैं जो कहूंगा उस पर आपस में विवेचन विवाद और चर्चा बहुत नहीं करनी है मैं जो कहूँ उस पर थोड़े प्रयोग करने हैं तीन दिन बहुत छोटा समय है उसे चर्चा में विचार में खो देना उपयोगी नहीं उस पर कुछ थोड़े से प्रयोग कर लेने जरूरी है क्योंकि मैं जो कहूंगा वो प्रयोग करने से ही स्पष्ट होगा और समझ में आएगा कि उसका क्या अर्थ है मैं जो कहूंगा उसे अगर थोड़ा भी उस दिशा में एक कदम भी उठाएंगे तो वो पूरा का पूरा स्मरण में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कहा है और उसका क्या अर्थ उस पर कितना ही सोचें विचार करें आपस में विवाद करें कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा बल्कि थोड़ा स्पष्ट भी हुआ होगा वो भी अस्पष्ट हो जाएगा वो भी उलझ जाएगा जीवन में कुछ चीजें हैं जो केवल जान कर ही नहीं करके ही जानी और देखी जा सकती हैं एक अंधे आदमी को हम समझाते रहे प्रकाश के संबंध में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा लेकिन उसका आंख का इलाज हो सके वो आंख खोल के देख सके तो प्रकाश के संबंध में बिना समझाए सब कुछ समझ में आ जाता है हमारी स्थिति भी कुछ आंख बंद किए लोगों जैसी है आंख खोलने का उपाय किया जा सकता है लेकिन प्रकाश को समझने का कोई उपाय नहीं ये आंख कैसे खुले इसकी प्राथमिक तैयारी हमारी क्या होगी पहली तैयारी इसे ध्यान में लेना जरूरी है कि हम कुछ करने को यहां इकट्ठे हुए हैं कुछ सुनने और विचार के लिए नहीं एक बार ये स्पष्ट हो मन में कि कुछ करने से रास्ता साफ होगा तो फिर मैं जो कहूंगा आप उसे दूसरे ढंग से सुनेंगे एक घर में आग लगी हो और मैं जाके वहां कहूं कि घर में आग लगी हुई है और उस घर के लोग विचार करने लगे कि मैं क्या कह रहा हूं मेरे कहने का क्या अर्थ है क्या प्रयोजन है तो उस घर की आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन जब मैं कह रहा हूं घर में आग लगी हुई है तो मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं न मैं कोई दार्शनिक बात कह रहा हूं मैं केवल एक सूचना दे रहा हूं कि इस घर के बाहर निकल जाना जरूरी है घर से बाहर आने के लिए सृजनात्मक एक सक्रिय कदम उठाने के लिए पुकार दे रहा हूं घर में आग लगी है ये न कोई सिद्धांत है न कोई विवाद है न कोई वाद है न कोई फिलसफा है ये केवल एक खबर है और खबर भी उनके लिए जो घर से दौड़ के बाहर आ सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं इधर जो बातें भी तीन दिन में मैं कहने को हूं वो इसी दृष्टि से कि आपके भीतर कोई सक्रिय कदम पैदा हो सके यह आपको प्राथमिक रूप से स्मरण रख लेना जरूरी है कि मेरा कहा हुआ कोई सक्रिय कदम उठाने की दिशा में एक पुकार एक आवाहन है सुनने समझने तत्व चिंतन के लिए नहीं तत्व साधना के लिए कोई दृष्टि है ये पहली बात दूसरी बात साधना शिविर हम इकट्ठे हो जाएं एक जगह एकांत में इससे कोई भी हल नहीं होता वहां हम कैसी दृष्टि लेकर इकट्ठे होते हैं कैसा भाव लेके इकट्ठे होते हैं हमारा अंतर्भाव हमारी अंतर्भाव की धारा क्या है इस पर निर्भर है यहाँ हम इतने मित्र इकट्ठे हुए हैं इनमें कोई इस अवसर को मूल्यवान भी बना सकता है कोई व्यर्थ भी खो सकता है हमारी जैसी आदतें हैं वो जीवन को व्यर्थ खोने की आदतें हैं इन तीन दिनों को अपनी उन आदत के बाहर निकाल लेना आप जैसे आदमी अपने घर पर थे इन तीन दिनों में कम से कम वैसे आदमी मत रह जाना मैकेनिकल हमारी यांत्रिक आदतें हो जाती हैं सुबह से उठ के अखबार पढ़ना है तो यहां भी सुबह से उठ के हम अखबार की तलाश में पड़ जाएंगे फिर मैं आपसे कह देता हूं आप यहां नहीं आए आप वही हैं जहां थे क्योंकि सुबह से उठ के आपने अखबार खोजा उसका मतलब यह है कि आप अपना घर खोज रहे हैं अपनी रोज की जिंदगी खोज रहे हैं आप अपने रोज का ढंग खोज रहे हैं वो जो है बिचुअल वो जो मैकेनिकल वो जो यांत्रिक आपकी आदत है वो आपने शुरू कर दी उसे तोड़ना जरूरी है इन तीन दिनों में आपको नए आदमी की तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए ख्याल रख के कि मैं कहीं वही डर रहा वही ढांचा वही पैटर्न तो यहां भी पैदा नहीं कर रहा हूं जो मेरे घर का है अगर कर रहा हूं तो मैं अपने घर पर हूं यहां आना फिजुल हो गया अच्छा था मैं घर पर ही रहता वहां तकलीफ नहीं होती वहां मेरा ढांचा पूरा जैसा चलता था वो चलता और स्मरण रखिए कि जो व्यक्ति अपनी आदतों के ढांचों में इतना बंध जाता है कि उनके बाहर जरा भी नहीं निकल सकता उसके जीवन में कोई आत्मिक क्रांति कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो आदमी जिस खोल के भीतर जी रहा है उसके बाहर झांकने की ना हिम्मत करता है ना प्रयास करता है जैसे कोई बीज के भीतर छिपा हुआ पौधा अपनी खोल को न तोड़ सके तो फिर कभी अंकुर नहीं बनेगा फिर कभी आकाश की तरफ नहीं उठेगा फिर कभी उसमें फूल नहीं आएंगे हम सब अपनी आदतों के घेरों में और खोल में सख्ती से बंद हैं साधना शिविर में पहली स्मरणीय बात है कि हम अपने आदत के खोल को थोड़ा तोड़ेंगे स्मरण रहे कि मनुष्य की छोटी छोटी आदत का एसोसिएशन है उसकी छोटी छोटी आदत का ढांचा है एक छोटी सी आदत उसकी आत्मा तक को कैद करने का कारण बन सकती है मेरे परिचित थे वो एक बहुत बड़ी बहुत बड़े वकील थे उनको हमेशा आदत थी कि जब वो अदालत में आर्गू करते विवाद करते और कहीं कोई उलझन से भरा हुआ बिंदु आ जाए कोई ऐसी बात आ जाए जिसको वो सोचना जरूरी हो जाए तो वो अपने कोट की बटन पकड़ के घुमाने लगते और जैसे ही वो कोट की बटन घुमाते उन्हें लगता है कि उनके मस्तिष्क में कोई दरवाजा खुल गया कोई विचार दौड़ने लगे उन्हें किसी भी मुकदमे में हराना बहुत मुश्किल था लेकिन उनके एक विरोधी वकील ने ये आदत उनकी निरीक्षण कर ली कि जब भी वे उलझते हैं तब कोर्ट के बटन को घुमाने लगते हैं उसने उनके सोफर को मिला के एक मुकदमे के वक्त उनके कोट की बटन तोड़वा दी वो अदालत में जाके कोट कंधे पे टांग के खड़े हो गए फिर उन्होंने कोट पहन लिया और वो विवाद करने लगे ठीक जगह पर जहां उलझन आके खड़ी हुई उनका हाथ कोट की बटन पर गया बटन वहां नहीं थी उनके माथे पर एकदम पसीने की बूंदे आ गई उनके हाथ पर ढीले पड़ गए वो कुर्सी पर आंख बंद करके बैठ गए वो पहला मुकदमा हार गए उन्होंने पीछे मुझे कहा कि मैं हैरान रह गया कि छोटी सी बटन से क्या इतना संबंध हो सकता है क्या इतना संबंध हो सकता है एक छोटी सी बटन से क्या मैं इतना गुलाम हो सकता हूं कि बटन नहीं थी तो सब गड़बड़ हो गए हम सब भी इतने ही गुलाम हैं और हम अगर अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हो हमारे आसपास हमने जो आत्ताओं का एक घेरा बना रखा है छोटी छोटी बटनों का ही सही उस घेरे को तोड़ देना जरूरी इन तीन दिनों में इस बात का सचेतन प्रयास करें कॉन्सियस इफर्ट इस बात का करें ध्यान रखें कि मैं अपने आत्तों के घेरों में वापस तो नहीं लौटा जा रहा हूं यहाँ कोई अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं न यहाँ रेडियो सुनने की जरूरत है न एक दूसरे से व्यर्थ की बातें करने की जरूरत है तीन दिन के लिए विश्राम ले लें अपनी सब आदतों से यहाँ अगर पति और पत्नी भी साथ आए हैं तो उन्हें एक दूसरे को पति और पत्नी मानने की कोई भी जरूरत नहीं है इन तीन दिन के लिए छुट्टी ले लें पत्नी होने से और पति होने से इन तीन दिन के लिए वो सारे भाव घर पे छोड़ आए जो घर के घेरे में हमको कैद रखते अन्यथा आप वहां से यहां कभी नहीं आ पाएंगे जमीन पर यात्रा कर लेनी बिल्कुल आसान है असली यात्रा मन के तल पर करने की जरूरत है साधना शिविर नारगोल में नहीं हो रहा है नारगोल में हो रहा होता तो आप आ चुके वहां साधना शिविर आपके भीतर होगा और वो यात्रा अगर आप करते हैं सचेतन रूप से तो ही हो सकती है अन्यथा रेलगाड़ियां हमें कहीं भी पहुंचा देती हैं रास्ते हमें कहीं भी पहुंचा देते हैं सिर्फ एक जगह के बाहर हमें नहीं ले जा पाते अपने बाहर नहीं ले जा पाते हम हमेशा अपने साथ मौजूद हो जाते हैं साधना शिविर में बहुत जरूरी है कि आप अपने को थोड़ा सा घर छोड़ाते हैं घर छोड़ आए हो न छोड़ आए हो तो अभी छोड़ दें इन तीन दिनों में आप एक नए आदमी की तरह जिए जिसका कोई ढांचा नहीं है कोई आदत नहीं और जो जो आदतें आपकी हैं और जो जो आपका ढांचा है जो मन को जकड़ता है उससे थोड़े सावधान रहने की कोशिश करें हो सकता है आपको विवाद करने की आदत हो किसी ने कुछ कहा और आप विवाद करने लगे तो थोड़ा सचेत होकर देखें कि मैं कहीं अपनी विवाद करने की आदत में तो नहीं पड़ रहा हूं और जैसे ही ख्याल आ जाए फौरन क्षमा मांग ले कहें कि भूल गया मैं भूल गया मेरी आदत वापस लौट आई मैं क्षमा चाहता हूँ और वापस लौटता हूँ इस आदत को यही छोड़ देता हूँ दिन भर हमारी बातें करने की आदतें हैं कुछ ना कुछ हम बात कर रहे हैं मौन बैठने का तो कोई सवाल नहीं है और आपको पता ही नहीं बात करने वाले लोग कभी भी जीवन के सत्य को नहीं जान सकते हैं केवल वे ही लोग जो कभी मौन होना भी जानते हैं वे ही पहुंच पाते हैं मौन हुए बिना कोई स्वयं के सत्य तक न कभी पहुंचा है न कभी पहुंच सकता है लेकिन हम 24 घंटे बातचीत में तल लिए एक घड़ी हमें मौका मिल जाए चुप होने का तो बड़ी बेचैनी और बहुत कठिनाई शुरू हो जाती है ऐसा लगने लगता है कि कैसे गुजरेगी ये घड़ी यहां तीन दिन इसका प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा मौन रहे कम से कम बोले बहुत जरूरी हो तो बोले बिल्कुल टेलीग्राफिक जैसे कि आपको पैसे ठुक रहे हो एक एक शब्द बोलने के आदमी तार करता है तो लंबी लंबी बातें नहीं लिखता दस शब्द लिख देता है आठ शब्द लिख देता है एक एक काटता जाता है कि ये व्यर्थ है इसकी कोई जरूरत नहीं है और आठ शब्दों का तार उतना काम करता है जितनी आठ हजार शब्दों की चिट्ठी नहीं करती क्योंकि शब्द जितने जरूरी रह जाते हैं जितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं उतने ही कंसंट्रेटेड हो जाते हैं उतने ही एकाग्र हो जाते हैं उतने ही उनमें तीव्रता और बल आ जाता है जितने बिखर जाते हैं जितने ज्यादा हो जाते हैं उतनी तीव्रता कम हो जाती है उतना बिखराव हो जाता है जैसे सूरज की किरणों को हम इकट्ठा कर लें किसी कांच से तो आग पैदा हो जाती है और बिखरी हुई किरणें पड़ती रहती हैं तो कोई आग पैदा नहीं होती जो लोग मौन होने की कला सीख जाते हैं उनके शब्दों में प्राण और जादू आ जाता है उनका एक एक शब्द आग पैदा करने की खूबत और शक्ति को उपलब्ध कर लेता है लेकिन हम 24 घंटे बोले जा रहे हैं कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत न थी जिसका कोई उपयोग न था जिससे दुनिया में किसी का हित नहीं हुआ वो हम बोले चले जा रहे हैं इन तीन दिनों में ख्याल रखें ऐसा एक शब्द भी आपके ओठों से बाहर ना आए जो अनावश्यक था और आप हैरान हो जाएंगे आवश्यक शब्द इतने कम हैं आवश्यक बातें इतनी कम हैं कि आप पाएंगे कि घंटों मौन में बीते जा रहे हैं कभी कोई एकांश शब्द लाउत से का नाम आपने सुना होगा कोई ढाई हजार वर्ष पहले चीन में हुआ रोज सुबह घूमने जाता था एक मित्र भी उसके साथ घूमने जाता था मित्र आके उससे करता नमस्कार आधा घंटे बाद लाओस से कहता नमस्कार आधा घंटे चल लेने के बाद इतनी ही कुल बात होती थी बस ये नमस्कार होते थे दो घंटे दो घंटे घूम के पहाड़ी से वो वापस लौटते थे एक दिन मित्र के साथ एक मेहमान भी आ गया फिर वे तीनों घूमने गए रास्ते में उस मेहमान ने इतना ही कहा कितनी खूबसूरत सुबह है कितना अच्छा मौसम है लेकिन वो दोनों चूंकि चुप थे वो इतना कह के वो भी चुप हो गए फिर वे वापस लौट आए घर आके लाओसे ने अपने मित्र के कान में कहा कि अपने मेहमान को कल से मत लाना बहुत बातूनी मालूम पड़ता है हमको भी दिखाई पड़ रहा था कि सुबह बहुत सुंदर है इसे कहने की जरूरत क्या थी अनावश्यक था हम भी मौजूद थे हम भी उस सुबह को देख रहे थे इसे कहने की क्या जरूरत इस बातूनी मित्र को साथ मत लाना आवश्यक अनावश्यक का ऐसा स्पष्ट भेद मन में होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं वो आवश्यक है या अनावश्यक और अगर बीच में भी ख्याल आ जाए कि अनावश्यक बात मैंने कही आधी हो गई तो आधी ही छोड़ देना इन तीन दिनों में वहीं छोड़ देना वहीं क्षमा मांग लेना कि गलती हो गई मैं व्यर्थ की बात कर रहा हूं आदत के कारण किए चला जा रहा ये तीन दिन मौन के दिन बनने चाहिए इस समुद्र का किनारा इतना अद्भुत है के पास अकेले में जाके बैठना ये सरु के दरख्त इतने सुंदर हैं इनके पास बैठना न अपनी पत्नी से बात करना न अपने मित्र से सरु के दरख्तों से कर लेना समुद्र से कर लेना यहाँ शिविर में आप बिल्कुल अकेले हैं इस भांति के भाव बोध को तीसरी बात स्मरण रखना है यहां ये 600 लोग नहीं है यहां मैं अकेला हूं क्योंकि हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं जिस ध्यान की दिशा में जिस साधना की दिशा में वहां कोई संगी साथी नहीं वहां हर आदमी अकेला है परमात्मा के रास्ते पर कोई भीड़ भाड़ नहीं जाती वहां एक एक आदमी ही जाता है तो यहाँ हम सब अकेले हैं साधक की हैसियत से कोई भीड़ भाड़ का संबंध नहीं है यहाँ इतने लोग हैं लेकिन प्रत्येक को यह अनुभव करना है तीन दिन की मैं बिल्कुल अकेला हूँ मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं मुझे ऐसे जीना है तीन दिन जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूँ कंपनी मत खोजे यहाँ कोई संगी साथ मत खोजे ये मत कहें कि मुझे मेरे मित्रों के साथ ठहरा दे यहाँ कोई है ही नहीं यहाँ आप बिल्कुल अकेले हैं और यहाँ तीन दिन बिल्कुल अकेले टोटल लोनलीनेस में जीने का प्रयोग करना है अकेले जीने में जो समर्थ हो जाता है उसके लिए वे द्वार खुल जाते जो भीड़ में रहने वालों के लिए हमेशा बंद है अकेले होने का भाव अभी रात आप जाके सोएंगे तो इस भांति जैसे आप बिल्कुल अकेले हैं इस बड़े जगत में कोई भी नहीं आप बिल्कुल अकेले ऐसा चुपचाप अकेले नींद में डूब जाएं सुबह जब उठे तब भी ऐसे कि जैसे बिल्कुल अकेले हैं और सच है कि आदमी अकेला है जन्म अकेला है मौत अकेली है बीच में बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है तो हम सोचते हैं कोई हमारे साथ है शरीर से शरीर टकरा जाते हैं तो हम सोचते हैं कोई हमारे साथ है शब्द से शब्द बात कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कोई हमारे साथ है लेकिन कोई किसी के साथ नहीं यात्रा बिल्कुल अकेली एक एक आदमी अकेला है भीड़ के बीच भी एक एक आदमी अकेला है कोई किसी के साथ नहीं है कम से कम तीन दिन तो इसके स्मरण को गहरा करें कि मैं बिल्कुल अकेला हूं इस स्मरण के परिणाम होंगे जब आपको ख्याल आएगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूं तो इसके साथ ही एक अद्भुत मौन आपके भीतर पैदा होना शुरू हो जाए क्योंकि बात वहां शुरू होती है जहां कोई और है संबंध वहां बनते हैं जहां कोई और है झगड़े मित्रता और शत्रुता वहां खड़ी होती है जहां कोई और है जहां मैं अकेला हूं बिल्कुल अकेला वहां एक कोरा सन्नाटा भीतर पैदा हो जाए तो आश्चर्य नहीं मौन एकाकीपन की छाया है तो अकेले होने का भाव इन तीन दिनों में गहरा से गहरा होना चाहिए किसी को बाधा न दें किसी के अकेलेपन को न तोड़े कोई अकेला झाड़ों के नीचे बैठा हो तो उसके पास न जाए पहुंच जाए भूल से तो फौरन हट जाए जैसे ख्याल आ जाए हरेक को अकेला होने दें अकेला रहने दें अकेला जीने दें अकेला अनुभव करने दें अगर तीन दिन कोई इंटेंसिटी से कोई पूरी तीव्रता से अकेलेपन का अनुभव करे तो तीन दिन में वो क्रांति हो जाएगी जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए तो तीसरा सूत्र ये स्मरण रखें कि हम बिल्कुल अकेले एकदम अकेले एकदम अकेले हैं कोई नहीं साथ एक यूनान का फकीर था गुरजीफ एक छोटे से गांव में एक प्रयोग कर रहा था तीस लोगों को एक बंगले में बंद कर रखा था और उन तीस लोगों से कहा था कि तुम तीस यहाँ नहीं हो एक एक ही है यहाँ हर एक को यही अनुभव करना है कि मैं फैला हूं तीन महीने तक ये प्रयोग चलेगा कोई ये ख्याल न करे कि दूसरा यहाँ मौजूद है उनतीस लोग यहाँ नहीं है अकेले हो तुम न बोलना है न किसी की तरफ आंख उठा के देखना है क्योंकि आंखों से भी बोला जा सकता है न स्मरण रखना है कि कोई यहां है अकेले बिल्कुल अकेले हो तीन महीने के उस प्रयोग ने उन लोगों को कहा पहुंचा दिया तीन महीने के उस प्रयोग में उन्होंने वो अनुभव किया जो कि आदमी तीन जन्मों भी मेहनत करता है तो नहीं अनुभव हो पाता तीन महीने में वे परिपूर्ण शांत हो गए क्योंकि जहां दूसरा मौजूद नहीं है वहां बोलने का उपाय नहीं जहां दूसरा है ही नहीं वहां मन में भी बात करने का कोई उपाय नहीं मन में भी हम तभी बात कर पाते हैं जब हम दूसरे को कल्पित कर लेते दूसरे को खड़ा कर लेते दूसरे का इमेज बना लेते दूसरे की प्रतिमा खड़ी हो जाती तब हम बात कर पाते जब कोई दूसरा है ही नहीं मैं बिल्कुल अकेला हूं इसी भाव में वे तीन महीने तक डूबते चले गए डूबते चले गए तो सारी वाणी समाप्त हो गई सारा संवाद बंद हो गया सारे विचार गिर गए और निर्विचार मौन में उन्होंने उसे जान लिया जो उनके भीतर छिपा था जब तक हम दूसरे से बोल रहे तब तक हम उसे नहीं जान सकेंगे जो हम हैं जो मैं हूँ उसे जानना हो तो तू से छुटकारा चाहिए वो जो दूसरा है उससे छुट्टी चाहिए उससे मुक्ति चाहिए उससे अवकाश चाहिए जब तक हम तू से बंधे हुए तब तक मैं को नहीं जाना जा सकता कि वो क्या है क्योंकि हमारी नजर हमारी दृष्टि हमारा ध्यान सब दूसरे पर बहा जा रहा है दूसरे पर बहा जा रहा है हम 24 घंटे दूसरे पर बिखरे जा रहे हैं 24 घंटे दूसरे पर घूम रहे हैं भटक रहे हैं और स्वयं पर आना नहीं हो पाता है ये स्वयं पर आना हो सकता है लेकिन उसके लिए अकेलेपन का बिल्कुल लोनलीनेस का ख्याल तीव्र भाव चाहिए बोधि धर्म एक भिक्षु था एक सुबह एक युवक उसके पास आया और बोधि धर्म से पूछने लगा कि मैं कौन हूं मुझे इसका उत्तर चाहिए बोधि धर्म बड़ा कृपालु बड़ा दयालु व्यक्ति था उसकी दया आपको अभी पता चल जाएगी उसने चांटा जोर से एक चांटा उस युवक को मारा वो युवक तो तिल मिला गया और उसने कहा यह आप क्या करते हैं मैं पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं आप मारते हैं वो युवक उठा और वापस लौट गया उसने जाके एक दूसरे भिक्षु को कहा कि मैं गया था बोधि धर्म से पूछने मैंने बड़ा नाम सुना था उनका उन्होंने मुझे चांटा मार दिया है उस भिक्षुने का बोधि धर्म बहुत दयालु है क्या तू मुझसे पूछने आया है अगर मुझसे पूछना आया हो तो ठहर मैं अपना डंडा उठा लाऊ वो तो बहुत हैरान हो गया लेकिन लौटते समय उसे भी ख्याल आया कि बोधि धर्म को क्या प्रयोजन है मुझे मारने से वो मुझे मारेगा क्यों अपने हाथ को तकलीफ दी और तो कुछ नहीं जरूर कोई बात होगी जरूर कोई बात होगी वो फिर दूसरे दिन सुबह पहुंच गया और बौद्ध धर्म के पास जाके बैठा ही था कि बौद्ध धर्म ने कहा फिर आ गए पूछोगे आज फिर अगर पूछोगे तो फिर मारूंगा और अगर आज नहीं भी पूछा तो भी मारूंगा बोलो क्या करते हो वो युवक तो घबराया और नहीं बोल सका बोधि धर्म हंसने लगा उसने कहा पागल जब तू मुझसे पूछने आ गया कि मैं कौन हूं दूसरे से पूछता है कि मैं कौन हूं तो उत्तर तुझे कभी भी नहीं मिलेगा और जो भी उत्तर मिलेंगे सब झूठे मिलेंगे क्योंकि दूसरा ये उत्तर कैसे दे सकता है कि तू कौन है ये उत्तर तो स्वयं से ही आएगा इसलिए मैंने तुझे चांटा मारा कि शायद मेरे चांटा मारने से तू मुझसे विरत हो जाए और अपने में लौट जाए मेरे चांटा मारने से मैंने कोशिश की ताकि तू अपने में लौट जाए ताकि तू वापस लौट जाए हम अपने में वापस लौट जाएं तो शायद उसका पता चल जाए जो हम हैं और उसका पता चल जाना ही सत्य का पता चल जाना है और उसका पता चल जाना ही प्रभु का पता चल जाना है और उसका पता चल जाना ही जीवन के घर में रोशनी का जल जाना है सुगंध का फैल जाना है तो मैं तीन दिन पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपने पे तो लौट जाएं। मैं उतना दयालु नहीं हूं कि आपको चांटा मारूं, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आप अपने पे वापस लौट जाएं। और इस अपने पे वापस लौटने में आपका जो सहयोग होगा वो ये कि तू को भूल जाइए यहाँ कोई दूसरा नहीं है दी अदर वो जो दूसरा है उसको छोड़िए उसको भूल ही जाइए कि वो है इसीलिए दरख्तों के साथ आसानी हो जाती है समुद्रों के साथ आसानी हो जाती है पहाड़ों के साथ आसानी हो जाती है क्यों क्योंकि दरख्त को तू कहने का आपको ख्याल नहीं आता समुद्र को तू कहने का ख्याल नहीं आता असली कठिनाई ह्यूमन रिलेशनशिप की है वो आदमी के साथ हमेशा तू मौजूद हो जाता है इसलिए थोड़ी देर को यहाँ समुद्र के पास जाना समुद्र आपको अपनी तरफ वापस लौटा देता है क्योंकि वहां कोई तू नहीं है दरख्तों के पास बैठना दरख्त आपको अपने पास वापस लौटा देते हैं क्योंकि वहां कोई तू नहीं है आदमी के पास कठिनाई है अभी क्योंकि वहां उसकी मौजूदगी तत्क्षण आपके चित्त को उसके आसपास घुमाने लगती है आप अपने पर नहीं लौट पाते उसके पास पहुंच जाते हैं एक दिन जरूर ऐसा आ जाता है जब आदमी के पास भी आप इसी तरह बैठ सकते हैं जैसे वृक्ष के पास आदमी के पास भी इसी भांति बैठ सकते हैं जैसे सागर के पास जिस दिन कोई आदमी के पास भी इस तरह बैठ जाता है उस दिन आदमी के भीतर उसे वो दिखाई पड़ता है जो न वृक्षों में दिखाई पड़ सकता न सागरों में दिखाई पड़ सकता थप्तों से आदमी के भीतर वो सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है जीवन की वो जो रहस्य उसके दर्शन हो जाते हैं लेकिन उसकी तैयारी चाहिए एक दिन आता है कि आप आदमी के साथ भी ऐसे बैठ सकते हैं जैसे कोई नहीं है लेकिन वो घड़ी धीरे धीरे आ सकती है उसके लिए कुछ तैयारी और कुछ भूमिका हो जानी चाहिए इन तीन दिनों में उसका हम प्रयास करेंगे इन तीन दिनों में इस बात की कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल अकेले हैं अकेलेपन को खोजें एकांत में बैठे और मैंने जो तीन सूत्र कहे उन पर ध्यान रखें अभी जब आप जाके सोएंगे बिस्तर पर तो इसी भांति सो जाएं कि जैसे इस बड़े विराट जगत में आप बिल्कुल अकेले जैसे इस पूरी पृथ्वी पर आप बिल्कुल अकेले हैं इन चांद की दुनिया में आप बिल्कुल अकेले कोई नहीं आप बिल्कुल अकेले हैं इस अकेलेपन में चुपचाप डूबते जाएं और सो जाएं सुबह ही आप एक अनूठा भाव लेकर वापस जाग सकेंगे वो अकेलेपन का भाव साधक अकेला है उसका न कोई संगी है न कोई साथी है न कोई भीड़ है न कोई संप्रदाय और प्रभु के मंदिर की जो यात्रा है वो बिल्कुल अकेले में पूरी करनी पड़ती है इन तीन दिनों में मैं उस अकेलेपन की दिशा में आपको ले जाने की कोशिश करूंगा लेकिन आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है आपका सहयोग आप अपने पूरे मन से दे सकें तो बात इतनी आसान है जिसका कोई हिसाब नहीं और आपका सहयोग न हो तो बात इतनी कठिन है इतनी मुश्किल असंभव कठिन भी नहीं असंभव ही एक छोटी सी घटना और अपनी चर्चा में पूरी करूंगा फिर आप चुपचाप जाएं और सो जाएं यहाँ से जाते समय भी बातचीत न करें कुछ मत कहें किसी से चुपचाप चले जाएं और तीन दिन में ध्यान रखूंगा कि आप बातचीत तो नहीं कर रहे हैं आप व्यर्थ की बातचीत में तो नहीं लगे हैं चुपचाप जितना चुप हो सके तीन दिन ऐसे जैसे शब्द खो गए और आप गूंगे हो गए आपसे बोला ही नहीं जाता आपके ओठ बंद हो गए एक सम्राट एक बहुत बड़े संगीतज्ञ के संगीत को सुनने को बहुत आतुर था चाहता था कि संगीत सुनने मिल जाए उसने अपने दरबारी भेजे वजीर भेजे और संगीतज्ञ को कहलवाया कि दरबार में आ जाओ तुम जो कुछ भी मांगोगे मैं दूंगा लेकिन मुझे तुम्हारी वीणा सुननी उस संगीतज्ञ ने कहा कि शायद उन्हें पता नहीं कि संगीत कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की आज्ञा से पैदा हो जाए उन्होंने बुलाया उनका धन्यवाद उन्होंने आदेश भेजा हो तो मैं आ सकता हूं वीणा बजाऊंगा भी लेकिन वो वो वीणा ना होगी जो मैं बजाता हूं ना मैं वो संगीतज्ञ होऊंगा जिसको वो सुनना चाहते लेकिन अगर उन्होंने प्रार्थना की हो तो फिर मैं किसी दिन आऊंगा लेकिन उस दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आज नहीं जब मौज में होगा मेरा मन और मेरे पैर उठ जाएंगे दरबार की तरफ तो मैं आ जाऊंगा राजा लेकिन बहुत बेचैन हो गया और भी बेचैन हो गया उसे पहली दफा पता चला कि आदेश और प्रार्थना में फर्क है जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो प्रार्थना से आता है जो भी व्यर्थ है वो आदेश से मिल जाता है लेकिन प्रार्थना के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है आदेश अभी इसी क्षण पूरा भी हो सकता है लेकिन राजा को यह भी दिखाई पड़ गया कि आदेश से वो संगीतज्ञ आ जाएगा तो जिससे मैं सुनना चाहता हूं नहीं सुन पाऊंगा बजा देगा लेकिन वो बड़ा आतुर था उसने अपने दरबार के संगीतज्ञ को कहा कि तुम कोई रास्ता खोज निकालो उसने का रास्ता हो सकता है वो ये नहीं कि संगीतज्ञ दरबार में आए वो यही हो सकता है कि हम संगीतज्ञ के घर चले राजा ने कहा इसमें क्या फर्क है संगीतज्ञ यहां आए हम उसके घर जाएं उस संगीतज्ञ का बहुत फर्क है बहुत फर्क है वो आदेश और प्रार्थना का ही फर्क है जीवन में जो भी श्रेष्ठ है उसके पास हमें स्वयं ही जाना पड़ता है घर बैठ के उसे बुलाना नहीं पड़ता है हमें चलने पड़ते हैं कुछ कदम राजा राजी हो गया उस संगीत तज्ञ जो एक फकीर था दरिद्र आदमी था और भिकमंगों के कपड़े पहनता था उसने राजा से कहा राजा के वस्त्रों में संगीतक के घर पहुंचना नहीं होगा फिर तो वो वही बात होगी उसमें कोई फर्क ना पड़ेगा आप भी मेरे जैसे वस्त्र पहन ले राजा ने कहा इन वस्त्रों से क्या बाधा पड़ेगी हम संगीत सुनने चलते हैं वस्त्र क्या करेंगे उस संगीतज्ञ ने कहा कि बहुत कुछ करेंगे आप वहां भी राजा बने रहे तो फिर संगीत जो हम सुनना चाहते हैं वो नहीं सुना जा सकेगा जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो सम्राटों की भांति नहीं याचकों की भांति उपलब्ध होता है वहां हाथ फैलाकर पहुंचना पड़ता है और इन वस्त्रों में आप हाथ न फैला सकेंगे ये वस्त्र सिंहासनों पर बैठने के आदि हैं ये धूल में उस गरीब संगीत तक के द्वार पर न बैठ सकेंगे राजा राजी हुआ उसने दरिद्र के वस्त्र पहने और वे दोनों रात उतरने को थी सांझ होने को थी तब उस संगीत तक के द्वार पर पहुंच गए राजा का संगीतज्ञ अपने साथ अपनी वीणा ले गया था वे दोनों द्वार पर बैठ गया उसने वीणा बजानी शुरू कर दी उसने वीणा पर वही वही बजाना शुरू कर दिया जो उस संगीतज्ञ के लिए सबसे ज्यादा प्यारा था जिसमें उसकी कुशलता थी लेकिन बीच बीच में दो चार भूलें की जान के की और संगीतज्ञ ने द्वार खोल दिया और कहा कि कौन कौन बजा रहा है और कौन गलत बजा रहा है उस संगीतज्ञ ने कहा कि मैं और ज्यादा नहीं जानता हूं जैसा जानता हूं बजा रहा हूं कोई बता दे तो मैं सीखने को हमेशा तैयार वो संगीतज्ञ अपने वीणा उठा लाया भीतर से और उसने बजाना शुरू कर दिया राजा तो मंत्र मुक्त हो गया जब बज चुकी वीणा तो उसने कहा कि शायद तुम पहचाने नहीं मैं सम्राट हूं जिसने तुम्हें बुलाया था और आखिर देखो मैंने सुन लिया उस संगीतज्ञ ने कहा यह बात और है तुम एक याचक की भांति आए हो मुझे बुलाया नहीं गया है फिर तुमने वो अवसर वो सिचुएशन वो परिस्थिति पैदा कर दी कि मेरे भीतर भाव जग गया और मैं बजाने लगा मुझे आदेश नहीं दिया गया है परमात्मा के द्वार पर भी ऐसे ही जाना होता है ऐसे ही कोई आदेश नहीं देने पड़ते एक प्रार्थी का भाव लेकर राजाओं के वेश में नहीं दीनहीन ह्यूमिलिटी विनम्रता से हाथ फैलाए हुए सिंहासनों पर बैठे हुए नहीं और जितनी दीनता से क्राइस्ट कहते थे पुअर इन स्प्रिट जो इतने भाव में दीन असहाय विनम्र आतुर और याचक होकर उस द्वार पर खड़ा हो जाता है फिर जो भी उससे बनता है जैसे भी भूल चूक भरे शब्दों में प्रार्थना करने लगता है जैसे भी बनता है भूल चूक भरी वीणा बजाने लगता है तब वो द्वार खुल जाते हैं उस परम संगीतज्ञ के और वो अपनी वीणा उठा के आ जाता है लेकिन इतने दूर तक हमें यात्रा करनी पड़ती है इस यात्रा के लिए हमें तैयार हो जाना जरूरी है आज रात से ही उसकी तैयारी शुरू करें मैंने जो तीन सूत्र कहे सुबह सुन प्रयोग शुरू करें फिर हम साधना के लिए और क्या जरूरी है क्या महत्वपूर्ण है किन किन कदमों को उठाएंगे उनकी हम बात करेंगे और प्रयोग करेंगे आज की पहली बैठक पूरी हुई अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें ओशो नेति नेति टॉक्स फ्रॉम द सीरीज शून्य की नाव given at meditation camp Nargol India discourse number two परिहार एक रात आधी रात हो गई और सुकरात घर नहीं लौटा था उसके मित्र और उसके शिष्य चिंतित हो गए सुबह से ही वो घर के बाहर था और आधी रात तक न गांव में देखा गया था न गांव में किसी को मिला था और अब आधी रात हो गई है अब तक उसका कोई पता नहीं फिर आधी रात वे उससे ढूंढने निकले गांव की गलियों गलियों में खोज डाला फिर गांव के बाहर चांदनी की रात थी वे दूर दूर गांव के बाहर भी उसे खोजते फिर सुबह होने के करीब वो एक वृक्ष के पास बैठा हुआ मिला रात के अंतिम तारे डूबने के करीब थे और उसकी आंखें आकाश की तरफ लगी हुई थी वो जैसे पत्थर हो गया हो रात भर की सर्द में जैसे जम गया हो मित्रों ने जाके उसे हिलाया वो जैसे इस पृथ्वी पर नहीं था कहीं और था किसी दूसरे लोक में शायद उन तारों के पास जिन्हें वो रात भर देखता रहा था उसने आंखें नीचे की वो हिला उसने अपने मित्रों को पहचाना और उसने कहा कितना समय बीत गया होगा मित्रों ने कहा पूरी रात बीत गई है दूसरी सुबह होने के करीब तुम सुबह से निकले हो कहा थे सुखरात ने कहा कि मैं यही आ गया सुबह के उगते सूरज को देखा दोपहर होती देखी सांझ का सूरज के देखा सूरज के साथ दिन भर यात्रा करता रहा फिर रात आ गई फिर चांद आ गया फिर सितारे आ गए फिर उनने मुझे भटका लिया फिर मैं उनमें डूब गया और मुझे पता भी नहीं कि कितना समय बीत गया है उसके मित्र पूछने लगे क्या था चांद तारों में ऐसा क्या था सूरज में ऐसा जो 24 घंटे बीत गए और तुम्हें कुछ पता नहीं सुकरात ने कहा आश्चर्य तुम्हें होता है होना मुझे चाहिए क्या नहीं है चांद तारों में क्या नहीं है सूरज में जो आदमी को मंत्र मुक्त न कर ले उसे विस्मय से विमुक्त न कर दे उसे अपने पास न बुला ले अपने गीत में अपने संगीत में न डुबा ले क्या नहीं है मुझे पूछना चाहिए उल्टा तुम ही मुझसे पूछते हो कि क्या है चांद तारों में जो रात बीत गई और तुम्हें पता नहीं धन है वे लोग जो चांद तारों में वृक्षों में समुद्रों में पहाड़ों में मनुष्य की आंखों में कुछ खोज लेते हैं जिन्हें वहां कुछ दिखाई पड़ जाता है शायद वही लोग आंखों वाले लोग हैं बाकी सारे लोग अंधे हैं हम भी अंधे हैं हमें भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ये हमारा अंधापन कैसे निर्मित हो गया उस संबंध में थोड़ी बात जान लेनी जरूरी है और इस अंधपन को हम कैसे तोड़ दें वो भी समझ लेना आवश्यक है क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना के जगत में प्रवेश करने में असमर्थ होगा अगर वो जीवन के प्रति एक बुनियादी अंधेपन को लेके चलता है हमें फूल ही दिखाई नहीं पड़ते तो हमें परमात्मा कैसे दिखाई पड़ सकता है हमें सागर का गर्जन भी सुनाई नहीं पड़ता तो हमें प्रभु की वाणी कैसे सुनाई पड़ सकती हमें चांद तारे भी दिखाई नहीं पड़ते तो हमें वो रोशनी कैसे मिल सकती है जो जीवन का प्राण है हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता हम करीब करीब सोए सोए गुजर जाते हैं आंख बंद किए किए गुजर जाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन की लहरें कहीं भी हमारे प्राणों को आंदोलित नहीं करती है कोई संवेदना हमें नहीं पकड़ लेती है कोई हमें मंत्र मुक्त नहीं कर पाता है धर्म का पहला संबंध जीवन के रहस्य के अनुभव से है वो जो जीवन की मिस्ट्री और समग्र जीवन ही रहस्यपूर्ण है एक छोटे से पत्थर से लेकर आकाश के सूरज तक एक छोटे बीज से लेकर आकाश को छूते वृक्षों तक सभी कुछ जो भी है अत्यंत रहस्यपूर्ण है लेकिन वो रहस्य हमें दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि रहस्य को देखने के लिए जैसी पात्रता चाहिए शायद हमने अर्जित नहीं की जैसी रिसेप्टिविटी चाहिए जैसी ग्राहकता चाहिए हृदय के द्वार जैसे खुले चाहिए वे शायद हमारे हृदय के द्वार खुले नहीं बंद हैं शायद हम किसी काराग्रह के भीतर बैठे हैं सब खिड़कियों और द्वारों को बंद करके आंखों को बंद करके और तब अगर हमारा जीवन अंधकार पूर्ण और उदासी से भर गया हो गंदी हवाओं ने और दुर्गंध ने हमें घेर लिया हो चिंताओं ने और तनावों ने हमारे घर में निवास बना लिया हो तो आश्चर्य नहीं हो सकता है ये स्वाभाविक ये होगा कैसे हमने जीवन के प्रति ये जड़ता अंगीकार कर ली है और फिर हम पूछते हैं ईश्वर है और हम फिर पूछते हैं आत्मा अमर है और फिर हम सारे प्रश्न पूछते हैं लेकिन एक प्रश्न हम पूछना भूल जाते हैं हमारे पास जीवन के रहस्य को देखने की आंखें हैं या नहीं जीवन के रहस्य को देखने की आंख मनुष्य रोज रोज खोता चला गया है जितने हम शब्द होते गए हैं उतनी हमने जीवन के रहस्य को देखने की आंख खो दी है जितने हम समझदार होते गए हैं जितना हमारा ज्ञान बढ़ता गया है उतना हमने जीवन का जो विस्मय है जीवन में जो अबूझ है जीवन में जो पहेली की तरह है जिसका कोई सुलझाव नहीं उस सबसे अपने को हटा लिया है उसकी तरफ पीठ कर ली जीवन एक अबूझ पहेली है ये हमें भूल गया है हमारे ज्ञान में हमारी जानकारी में हमारी समझ में हम ऐसा समझने लगे हैं आदमी ये निष्कर्ष ले लिया है कि करीब करीब सब हमें ज्ञात है और जो ज्ञात नहीं है वह भी ज्ञात हो जाएगा जीवन में कुछ भी अज्ञे कुछ भी अनोएबल नहीं है सब जाना जा सकता है ये सत्य से बिल्कुल ही विपरीत बात है जीवन में सब कुछ अज्ञे है और जिसे हम जानना समझते हैं वो जानना नहीं जीवन में कुछ भी नहीं जाना जा सकता है एक छोटी पत्ती से लेकर जो कुछ दिखाई पड़ता है वो सभी बहुत बहुत अज्ञात बहुत अज्ञे बहुत अबूझ बहुत रहस्यपूर्ण है ये रहस्य कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है जो हम थोड़ा सा जान लेते हैं वो जानना परिचय है ज्ञान नहीं एक्वेंटेंस है परिचय को हम ज्ञान समझ लेते हैं थोड़े दिन कुछ हम जान लेते हैं ये सरु के वन में हम बैठे हैं सागर के तट पर कल आप आए थे तो ये सरु के वृक्षों में इस सागर के तट पर थोड़ा सा अनजाना मालूम पड़ा होगा आज आप परिचित हो गए कल आप और परिचित हो जाएंगे परसों और जाते जाते ये सरु का वन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ये सागर का गर्जन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा लगेगा जानते हैं जो यहाँ निकट रहते होंगे उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा कश्मीर लोग यात्रा करने जाते हैं जो वहां रहते हैं उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता हिमालय की पहाड़ियों को लोग दूर से पागल की तरह यात्रा करते हैं जो वहां रहते हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पाता क्या वे जानते हैं नहीं वे परिचित हो गए हैं निकट रहने से रोज रोज देखने से उन्हें ये भ्रम पैदा हो गया है कि हम जानते हैं परिचय ज्ञान का भ्रम पैदा कर देता है मनुष्य परिचित होता चला जा रहा है जगत से और इसी को वो समझ रहा है कि हम जान रहे हैं ये जानने का भ्रम ये नोइंग एटीट्यूड की हमें पता है जीवन के सारे रहस्य को खंडित कर रहा है साधक को इस जानने के भ्रम को तोड़ देना चाहिए और विस्मय को उपलब्ध कर लेना चाहिए क्या आप इन वृक्षों के पास इस भांति बैठ सकते हैं जैसे आप पहली बार ही एक अज्ञात लोक में उतर आए हो जहां कुछ भी परिचित नहीं क्या आप सागर के गर्जन को ऐसा सुन सकते हैं जैसा पहली बार प्रथम बार ही आपने सुना और जाना हो पृथ्वी पर जो पहला आदमी उतरा होगा उसने पृथ्वी को जैसा देखा होगा क्या वैसा आप देख सकते पहला आदमी चांद पर उतरेगा और जैसा चांद को देखेगा विस्मय विमुक्त होकर अवाक होकर मौन होकर सब अपरिचित सब अनजाना क्या वैसा पृथ्वी पर क्षण भर को खड़े हो सकते अगर खड़े हो सकते हैं तो साधना की पहली सीढ़ी पार कर ली गई इन तीन दिनों में मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि यहाँ इस भांति खड़े हो जैसे आपकी नौका टकरा गई हो नारकोल के तट पर और एक अनजान जगह में आप उतर गए हो जहाँ कुछ भी परिचित नहीं सब अपरिचित है रेत भी वृक्ष भी तट भी आकाश भी सब अपरिचित है और सच्चाई यही है कि जहां हम जन्म लेते हैं हम कुछ भी जानते हुए नहीं आते हम बिल्कुल अनजान पैदा होते बिल्कुल स्ट्रेंजर बिल्कुल अजनबी जन्म एक अजनबी लोक में खड़ा कर देता है और जब हम मरते हैं तब भी हम बिना कुछ जाने विदा हो जाते हैं आदमी क्या जानकर समाप्त होता है मरते क्षण भी हमारी चेतना वही होती है जहां जन्म के क्षण में थी हम कुछ भी नहीं जान पाते हैं और विदा हो जाते हैं ये जो बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में हमें जानने का भ्रम पैदा हो जाता है वो परिचय का भ्रम बाप सोचता है मैं बेटे को जानता हूं पत्नी सोचती है मैं पति को मित्र सोचता है मैं मित्र को जानता हूं कोई भी किसी को नहीं जानता है इस अनजानेपन को इस स्ट्रेंजनेस को इस अजनबीपन को पकड़ लेना है पहचान लेना है इस पर ध्यान को ले जाना है ये हमारे मेडिटेशन का हिस्सा बन जाए ये हमारे ध्यान और चिंतन और मनन का केंद्र बन जाए कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं क्या ये बन सकता है ये बन सकता है अगर थोड़ा हम साहस करें और अपने उस अहंकार को छोड़ सके जो जानने ने पैदा कर दिया मनुष्य के भीतर गहरी से गहरी ईगो गहरा से गहरा अहंकार जानने का अहंकार है किसी से भी पूछे ईश्वर है वो कहेगा हाँ ईश्वर है या कहेगा कि नहीं ईश्वर नहीं है और दोनों हालतों में वो ये कहेगा कि मैं जानता हूं शायद ही कोई आदमी खोजे से मिल जाए जो चुप रह जाए और कहे कि मैं नहीं चाहता लेकिन चाहता हूं मैं कि आप वो आदमी बने जो कह सके निर्भयता से निश्चय से कि मैं नहीं जानता पूछे अपने से हम जानते हैं कुछ गहराई में अपने से ये प्रश्न उठाएं जानता हूं मैं कुछ क्या जानता हूं और तो जानना दूर है स्वयं को भी नहीं जानता अपने को भी नहीं जानता नहीं जानता हूं उसे जो कि मैं हूं फिर मैं और क्या जान सकूंगा जो मेरे निकटतम है जो मेरे भीतर है वो भी अपरिचित और अनजान तो जो मेरे बाहर है और मुझसे दूर वो कैसे परिचित और जाना हुआ हो सकता है आप अपने को जानते हैं शायद न पूछा हो कभी आपने अपने से हम कुछ चीजें स्वीकार ही कर लेते हैं कभी पूछते ही नहीं हर आदमी ये बात स्वीकार ही कर लेता है कि मैं जानता हूं अपने को और इस भांति चलने और जीने लगता है जैसे जानता हो हमने कभी प्रश्न ही नहीं पूछा और जिसने प्रश्न ही नहीं पूछा उसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ सकती पहला प्रश्न जो प्रत्येक को अपने से पूछ लेना चाहिए वो ये कि मैं अपने को जानता हूँ मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ मैं कहा से हूँ मैं कहा के लिए हूँ लेकिन किसी बात का कोई उत्तर नहीं न ज्ञात है कि मैं कौन हूं न ज्ञात है कि मैं क्या हूं न ज्ञात है कि मैं कहां से हूं न ज्ञात है कि मैं कहां के लिए जा रहा हूं ये चार बुनियादी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं लेकिन हम स्वीकार कर लिए हैं कि हम अपने को जानते सपनहार एक सुबह कोई तीन बजे होंगे एक छोटे से बगीचे में गया हुआ रात थी अभी अंधेरा था बगीचे का माली हैरान हुआ कि इतनी रात गए कौन आ गया उसने अपनी लालटेन उठाई अपना बाला उठाया और वो गया बगीचे के भीतर सोपिनहार वहां टहलता है वृक्षों के पास और कुछ अपने से ही बातें कर रहा है उस माली को शक हुआ कि जरूर कोई पागल घुस आया है अकेला अपने से बातें कर रहा है उसने दूर से ही खड़े होकर आवाज दी और पूछा कि कौन हो कहा से आए हो किस लिए आए हो क्या चाहते हो स्वप्नहार जोर से हंसने लगा और उसने कहा तुम ऐसे कठिन प्रश्न पूछते हो जिनका उत्तर आज तक कोई आदमी नहीं दे पा पूछते हो कौन हो जिंदगी भर हो गई मुझे पूछते पूछते अब तक तो मुझे उत्तर नहीं मिला कि कौन है पूछते हो कहा से आए हो आज तक कोई आदमी नहीं बता सका कि कहा से आया मैं भी असमर्थ पूछते हो किस लिए आए हो उसका भी मुझे कोई पता नहीं कि किस लिए आया निश्चित ही उस माली ने समझा होगा कि पागल ही है या आदमी जिसे इतना भी पता नहीं लेकिन माली पागल था या वो आदमी जिसे पता नहीं था कौन था पागल अगर आपको पता है या आपको भ्रम है कि आपको पता है तो आप पागल हो सकते हैं लेकिन अगर आपको पता नहीं तो ये मनुष्य की स्थिति है ये ह्यूमन सिचुएशन कि आदमी को पता नहीं इसमें पागलपन का कोई सवाल नहीं लेकिन कहीं हम पागल मालूम पड़ने लगे इसलिए हमने कुछ व्यवस्था कर ली है कुछ अपने को पहचानने और जानने का आयोजन कर लिया है हमने कुछ उपाय कर लिए जिससे हम ऐसा लगे कि हम अपने को जानते हैं हमने अपने नाम रख लिए हैं अपनी जाति बना ली है अपना धर्म बना लिया है अपना देश बना लिया है हमें इंगित किया जा सके कि कौन है यह आदमी तो हमारा नाम है हमारी जाति है हमारा धर्म है हमारा देश है हमारे माँ बाप हैं उनके नाम हैं हमारी वंश परंपराएं हैं और हमने कुछ इंतजाम कर लिया है जिस भांति पहचाना जा सके कि मैं कौन और हमारी सारी व्यवस्था झूठी हमारी सारी व्यवस्था कल्पित और सपने जैसी क्या है नाम किसी का क्या है किसी की जाति क्या है किसी का धर्म कौन सा है देश किसका लेकिन हमने जमीन पर भी झूठी रेखाएं खींच रखी हैं भारत की और चीन की और रूस की और अमेरिका की झूठी रेखाएं जो जमीन पर कहीं भी नहीं है लेकिन ताकि हम कह सकें कि मैं यहां से हूं और हमने आदमी के आसपास भी झूठे नाम और लेबल चिपका रखे हैं कोई राम है कोई कृष्ण है कोई कोई है वे नाम भी बिल्कुल झूठे हैं आदमी कोई नाम लेके पैदा नहीं होता है और हमने जातियों के नाम भी चिपका रखे वे नाम भी बिल्कुल झूठे हैं आदमी किसी जाति में पैदा नहीं होता सब जातियां आदमी के ऊपर से थोपी जाती हैं और हमने माँ बाप के नाम भी अपने साथ जोड़ रखे हैं न उनका कोई नाम था न उनके माँ बाप का कोई नाम था न उनके माँ बाप का कोई नाम था लेकिन हमने एक छोटा सा कोना बना लिया है ज्ञान का और ऐसा भ्रम पैदा कर लिया है कि हम अपने को जानते इसी भ्रम में हम जीते हैं और नष्ट हो जाते हैं साधक को ये भ्रम तोड़ देना चाहिए ये कोना उजाड़ देना चाहिए उसे जान लेना चाहिए ठीक ठीक कि मेरा कोई नाम नहीं मेरी कोई जाति नहीं मेरा कोई देश नहीं मेरा कोई परिचय नहीं मैं बिल्कुल अज्ञात जैसे ये हवाओं के झोंके अज्ञात है जैसे ये वृक्ष अज्ञात है जैसे ये आकाश के चांद तारे अज्ञात है जैसे ये सागर का पानी अनाम और अपरिचित और अज्ञात है वैसे ही आदमी के जीवन की लहरें भी अज्ञात है अनजान है अपरिचित है लेकिन न केवल आदमी ने ऊपर का परिचय बना रखा है आदमी ने भीतर का परिचय भी बना रखा है किसी से पूछे कि आपके भीतर कौन है वो कहेगा मेरे भीतर आत्मा है आत्मा अमर है मेरे पिछले जन्म थे कर्मों के फल हैं आगे जन्म होंगे स्वर्ग है नरक है वे लोग जो शुद्ध हो जाते हैं वे मोक्ष चले जाते हैं हमने अज्ञात में अंधेरे में न मालूम क्या क्या लिख लिया है ये ज्ञान भी आदमी का पकड़ा हुआ और कल्पित ज्ञान ये ज्ञान भी हमें पता नहीं कुछ भी हमें पता नहीं है लेकिन इन शब्दों को हम दोहराए चले जाते हैं इन शब्दों को हम पकड़ के बैठ जाते हैं इन शब्दों पर हम ध्यान करते हैं एक सन्यासी कुछ दिन हुए मेरे पास आए मैंने उनसे पूछा कि क्या ध्यान करते हैं क्या साधना करते हैं कहने लगे बैठकर एकांत में यही सोचता हूं कि मैं सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ मैं अमृत जीवन हूँ मेरी कोई मृत्यु नहीं मैं शरीर नहीं हूँ मैं मन नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ ये हम ध्यान करते हैं ये हम मेडिटेशन करते हैं मैंने उनसे कहा ये बातें आपको पता हैं तो ये बातें आपको ज्ञात है ये आपका अनुभव है यह आपका ज्ञान है कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा है या कि सुने हुए शब्द और सीखे हुए शब्द है फिर मैं उनको पूछा अगर यह आपको ज्ञात ही है कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा है तो रोज रोज इसे बैठ के दोहराने की रिपीट करने की क्या जरूरत है जो ज्ञात है उसे कभी कोई नहीं दोहराता जो ज्ञात नहीं है उसे दोहरा दोहरा के हम ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि वो ज्ञात अगर ये मालूम है कि मैं परमात्मा हूं अगर ये पता है अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूं तो इसे रोज रोज दोहराने की क्या जरूरत है कोई कभी नहीं दोहराता जिसे जानता है जिसे हम नहीं जानते उसे हम दोहराते हैं क्योंकि बार बार दोहरा लेने से ये भ्रम पैदा होना शुरू हो जाता है हम परिचित हो जाते हैं शब्दों से निरंतर दोहराए जाने से परिचय पैदा हो जाता है हम भूल जाते हैं कि पहली बार जब हमने कहा था तो हमें पता नहीं था पचास बार कहने के बाद ऐसा लगता है कि हमें मालूम है लेकिन पहली बात ही जब हमें ज्ञात न थी तो पचास बार दोहरा लेने से वो ज्ञात नहीं हो सकती रिपीटिशन कहीं भी नहीं ले जाता है सिवाय भ्रम के अगर मुझे पहली बार ही पता नहीं था तो मैं हजार बार दोहराऊ उससे क्या होगा झूठ हजार बार दोहरा लेने से सच नहीं हो जाता और अज्ञान हजार बार दोहरा लेने से ज्ञान नहीं बन जाता लेकिन हम दोहराते हैं हम दूसरों को भी जब धोखा देना चाहते हैं तो हम दोहराने का उपाय करते हैं अपने को भी धोखा देना चाहते हैं तो दोहराने का उपाय करते हैं अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है ऐसा कोई भी असत्य नहीं है जिसे बार बार दोहरा देने से सत्य न बनाया जा सके ठीक ही लिखा है कोई भी असत्य बार बार दोहरा देने से सत्य प्रतीत होने लगता है जितने सत्य हम जानते हैं वो इसी तरह दोहराए गए असत्य हैं जिनको दोहरा दोहरा के हमने सत्य मान लिया हम कुछ भी मान सकते हैं उसे बार बार दोहरा लेने से निरंतर दोहरा लेने से भ्रम पैदा हो जाता है हमने शरीर का भी परिचय बना लिया है हमने भीतर का भी परिचय बना लिया है न हमें शरीर का कोई पता है न भीतर का हमें कोई पता है अगर सत्य की दिशा में कोई भी कदम उठाना है तो प्राथमिक रूप से हमारे ये अज्ञान की स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए इस अज्ञान के स्पष्ट बोध से तो यात्रा हो सकती है क्योंकि ये अज्ञान सत्य है ये हमारा न जानना एक तथ्य है एक सेक्सुअलिटी है ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं कि आप नहीं जानते न जानना हमारी वस्तु स्थिति है लेकिन दुनिया में निरंतर ये सिखाया जा रहा है कि आप अपने को इस भांति जाने ये बातें दोहराएं और इनको दोहराते रहें दोहराते रहें और दोहराने से आपको ज्ञान पैदा हो जाएगा हजारों वर्षों से आदमी को कुछ बातें दोहराने के लिए सिखाई जा रही है बैठ के दोहराओ कि मैं ईश्वर हूँ मैं परमात्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ एक आदमी जीवन भर दोहराता रहे तो भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं ये हूँ लेकिन जो बात पहले चरण में असत्य थी वो अंतिम चरण में सत्य नहीं हो सकती मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ भूल के भी इस तरह की बातें आप मत दोहराना इनसे ज्ञान का भ्रम पैदा होता है ज्ञान पैदा नहीं होता है पहली मनुष्य की वास्तविक स्थिति क्या है चित्त की वास्तविक दशा क्या है स्टेट ऑफ माइंड क्या है हमारा सीधी और साफ बात इतनी है कि हम नहीं जानते हमें कुछ भी पता नहीं लेकिन आदमी अज्ञान को स्वीकार नहीं करना चाहता आदमी का गहरे से गहरा जो अस्वीकार है वो यह है कि वो अज्ञान को अस्वीकार करता है हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं कोई अगर हमसे कह दे कि आप नहीं जानते कोई किसी बात में कह दे कि आप नहीं जानते हम लड़ने को तैयार हो जाते सबसे बड़ी चोट हमारे अहंकार को तब लगती है जब कोई ये कह देता है कि आप नहीं जानते या कोई कह देता है कि आप गलत जानते हैं क्यों लगती है ये चोट ये चोट भी शायद इसीलिए लगती है कि वह हमारी सच्चाई उगाड़ देता है जो हम छिपाए हुए हैं भीतर जिसे हमने बहुत से पर्दे ढांक के भीतर छिपा रखा है कोई जरा सा पर्दा उघाड़ देता है तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं लड़ने को उतारू हो जाते हैं हम विवाद करने को तैयार हो जाते हैं दुनिया भर के धर्म आज तक कौन सी लड़ाई करते रहे एक ही लड़ाई हर धर्म ये दावा करता रहा है कि हम जानते हैं और अगर किसी ने कह दिया कि नहीं तुम नहीं जानते और गलत जानते हो तो तलवारें चलती है जैसे कि तलवार कोई प्रमाण है जानने का जैसे कि किसी की हत्या कर देना कोई तर्क है कोई आर्गुमेंट है जैसे कि मंदिरों और मस्जिदों में आग लगा देना कोई साक्षी है कोई विटनेस कोई गवाही है आदमी का अज्ञान गहरा है अज्ञान बुनियादी है और उस अज्ञान के ऊपर ज्ञान की सारी बातें उसने चिपका रखी है जरा सा हवा का झोंका और लेबल उड़ने लगता है तो वो क्रोध से भर जाता है जरा सा कोई इंकार कर देता है और गुस्सा भर आता है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आपको जीवन के सत्य की तरफ कोई भी कदम उठाना है तो अपने अज्ञान की बुनियादी स्थिति का पहला स्वीकार पहली स्वीकृति के हम नहीं जानते हम कुछ भी नहीं जानते क्यों इस पर